लंका भय कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी देख हुबर बन रन के केरी ढिठाए बिहसी निसाचर सेन बुलाए आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निशिचर मेरे अस कही अट आस सठ के गृह बैठे आहार विधि दीना लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा वानरों की ढिठाई तो देखो यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं मेरे राक्षस सभी भूखे हैं विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया वह बड़े बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा सुभर्त सकल चारिहु दिसि जाहु धरि धरि भालो किस सब खाहु उमाराम नहि असय अभिमाना जिमिटि डिभ खग सूत उताना साचर आय सुमांगी गही कर भिंडे पाल तो मर मुद्गर परशु प्रचंडा शूल कृपाण परिघ गिर खंडा और बोला हे वीरों सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ शिव जी कहते हैं हे उमा रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है मानो आकाश को थाम लेगा आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल सांगी बर्छी थोमर मुदगर प्रचंड फरसे शूल दुधारी तलवार परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले अरुणो पल निकर निहारे धावहि सठ खग मांस आहारी चोच भंग दुख तिन्ह सूझा सोझा धाये मनो जाद अबूझा जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े नानायुध सर चाप धर जातु धान बलबीर कोट कंगूरन चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगूरों पर चढ़ गए कोट करहि सोहहि कैसे मेरु सिंह गण जय घन जयसे बाजहि ढोल निशान जुझाओ सुन धुन होय मन जाऊ जाहि भेरी न फेरि अपारा सुन दर उर जाहि दरारा लेकिन जाए कपिन के ठटाम अति विशाल तनु भालु सुभटा परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठा हो चुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है अगणित नफीरी और भेरी बज रही है जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे धावहि गणहि न अवघट घाटा पर्वत फोरी करही गही बाटा कटकटाहि को भट्गर् जहे दशन ओठकार सह अति जहे उतरावन इत राम दुहाये जयति जयति जय राय निशिचर शिखर समूह ढहावही कूद धरहे कपे फेरी चलावही देखा कि वे रिछ बानर दौड़ते हैं अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं उधर रावण की और इधर राम जी की दुहाई बोली जा रही है जय जय जय की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई राक्षस पहाड़ों के ढेर के ढेर शिखरों को फेंकते हैं वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं धरि कुधर खण्ड प्रचण्ड मर्कट पर डारहि झपटहि चरण गहि पटकि भजि चलत पहुरि प्रचारहि अति तरल तरुण प्रताप तरपहि तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदिर न जह तह राम जसु गावत भये प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे एक एक चर गहे उन कपि चले पराए ऊपर आप हेठ भट गिरहि धरने पर आए फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे कीले पर से धरती पर आ गिरते हैं